कभी भी किसी को मजाक नहीं करना जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है ठीक है पीता है अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना टिंगल नहीं करना उसका मजाक नहीं करना क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया टिंगल किया तो आपका सारा काम व्यर्थ उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में देखिए व्यसन जब आता है ना शरीर में तो शरीर की कमजोरी से आता है दुर्गुण वो नहीं है बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है गुण की कमी नहीं होती है वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है कमजोरी क्या आती है सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं कुछ धातुएं होती हैं उनमें से कोई एक दो रसायन कम हो गए कोई एक दो धातुएं कम हो गई तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा बीड़ी पीना सिगरेट पीना मावा खाना शुरू कर देगा वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है वो रसायन का नाम है सल्फर हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर हमारे शरीर में सोलह तरह की धातुएं और रसायन हैं कैल्शियम है पोटेशियम है मैग्नीशियम है सोडियम है सल्फर है आयरन है सिलिकॉन है कोबाल्ट है ऐसी सोलह धातुएं और रसायन होते हैं इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं मौज में करते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता अगर उन्नीस वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो कोई <clears throat> एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो उसमें होगा क्या शुरू में आपने उसको समझाया एक दो दिवस समझ गया फिर कोई दिन चुपके से जाके पी के आएगा आपको बताएगा भी नहीं और <clears throat> फिर आपको पता चला आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया तो उसने कहा क्या करूं मन नहीं मानता शरीर नहीं मानता वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है शरीर उसकी मांग करता है शरीर कहता है इसको पियो इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती है लेकिन वो होती तात्कालिक है परमानेंट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ चाय कॉफी जो लोग पीते हैं उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है इसलिए वो बार बार चाय कॉफी शराब पीने वालों को सल्फर गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में इसलिए बार बार शराब पीते हैं बीड़ी पीने वाले सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले इनको शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी आती है इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं ऐसे सोलह रसायन है जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा फिर जाकर वो पिएगा तो ऐसी परिस्थिति है तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है टीका नहीं करना मजाक नहीं करना हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है वो जानबूझ के कई बार ऐसा नहीं करता है कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है तो भारत में तेईस लाख संत हैं तेईस लाख इस देश में संत हैं तेईस लाख से भी जास्ती हैं तेईस लाख अस्सी हजार और कुछ सौ में भी होंगे ये सरकार के आंकड़े हैं इतने साधु संत हैं महात्मा हैं और 107 कोटि का भारत है अगर ये कर लेते तो भारत में इतना भ्रष्टाचार इतना अनाचार इतनी व्यसन क्यों होती तो साधु संत दूसरे को नहीं सुधारते वो अपनी सेवा कराते उनको अहंकार इस बात का है कि वो समाज को सुधारना कर रहे हैं वो कोई समाज को सुधारना नहीं करते ये बात मैंने बहुत बड़े बड़े संतों को कही है उनके मुंह पर कि आप तो अपनी सेवा करा रहे हैं आपको अहंकार है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं समाज आपके लिए कर रहा है आप समाज के लिए कुछ नहीं कर तो आप में से किसी को साधु होने का नहीं है ध्यान रखना है संत भी होने का नहीं है संत और साधु कहलाने की भी जरूरत नहीं है हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा स्थान बहुत ऊंचा है क्योंकि हम समाज में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं समाज को मदद करने की अपना भी कल्याण कर रहे हैं दूसरे का और ये जो साधु संत होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं वो अपनी तपस्या करके अपना कल्याण करते हैं देश का नहीं तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने घर बनाया है परिवार बनाया है पत्नी है बच्चे हैं तो कभी भी ध्यान में ये नहीं लाना कि छोड़ के जाने का कोई कुछ नहीं कर पाता मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिया वो और परेशान है हाँ तो मैं कहता हूँ नहीं छोड़ते तो अच्छा था क्योंकि इधर से भी गए उधर से भी गए <laughs> दोनों तरफ से गए तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने घर बसाया परिवार बसाया घर संसार चलाते हैं दुकान चलाते हैं बिजनेस करते हैं धंधा करते हैं सर्विस करते हैं खेती करते हैं जो करते हैं वो ईमानदारी से करते करते ये करने का है उसको छोड़ छाड़ कर कुछ जास्ती करेंगे ये कभी नहीं करेंगे ये आपका जो अध्यक्ष है ना ये बहुत बार मुझे कहते हैं राजीव भाई नौकरी छोड़ने का है मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ने का पूछो इनको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ अभी अगले साल संपूर्ण काम करता हूँ मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नहीं छोड़ने का क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने सब छोड़कर काम किया बहुत परेशान हूँ इसलिए समाज के बीच में रह के हमें करना है परिवार के बीच रह के करना है और अगर आप परिवार समाज में रह के करते हैं तो बहुत तारीफ की बात है सब छोड़ के तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने को तो यही करेंगे